Osho, Sach Sach So Sach. Question and answer talks given at Osho Commune International, Pune, India. Discourse number 11. भगवान संत बुल्ले साहब की ते काफी इस प्रकार है तंग छिदर नहीं बिच तेरे जिथे कख न एक समावदाए ढूंढ वेख जहां दी ठोर किथे अनहुंदड़ा नजरी आवदा ए जिवे ख्वाब द ख्याल होवे सुतिया नु तरह तरह दे रूप दिखाव दाए बुलसा न तुझ थी कुछ बाहर तेरम भरम तेनु भरम आमदा ए अर्थात हे प्यारे तू इतना तंग है कि तुझ में कोई छिद्र झरोखा नहीं जिसमें एक का भी नहीं समा सकता है ढूंढ कर देख इस जहान की ठौर कहा है अनहोना नजर आ रहा है जिस प्रकार सोए हुओं को ख्वाब के ख्याल होते हैं ऐसे ही तरह तरह के रूप दिख रहे हैं बुल्ले शाह कहते हैं कि तुझसे कुछ भी बाहर नहीं किंतु तेरा भरम ही तुझे भरमा रहा है भगवान निवेदन है कि बुल्ले साहे की इस काफी को हमें समझाएं उषा मनुष्य एक अद्वितीय स्थिति है और ध्यान रखना शब्द स्थिति एक जगत है मनुष्यों के नीचे पशुओं का वे पूरे ही पैदा होते हैं उन्हें जो होना है वैसे ही पैदा होते और एक जगत है मनुष्य के ऊपर बुद्धों का उन्हें जैसा होना है वे हो गए अब कुछ होने को नहीं बचा और दोनों के मध्य में मनुष्य की चिंता का लोक है उसे जो होना है अभी हुआ नहीं जो नहीं होना है वह अभी है इसलिए तनाव है खिंचाव है पीछे की तरफ खींचता है पशुओं का लोक पक्षियों का लोक वृक्षों का लोक नदी पहाड़ों का लोक आगे की तरफ खींचता है बुद्धों का लोक जिनों का लोक तीर्थंकरों का लोक अवतारों का लोक दोनों आकर्षण प्रबल है पीछे के आकर्षण का बल यह है कि वह हमारा अनुभव है अचेतन में दबा हुआ उन सारी योनियों से हम यात्रा करके आए हैं वे जानी मानी हैं परिचित हैं उन लौट जाना आसान मालूम होता है इसलिए शराब और शराब जैसे मादक द्रव्यों का इतना प्रभाव है शराब की खूबी यही कि थोड़ी देर को तुम्हें तुम्हारी आदमियत से नीचे गिरा देती तुम्हें तो फिर वापस पशुओं के जगत का हिस्सा बना देती वही शांति वही सन्नाटा वही निश्चिंत भाव सुखद मालूम होता है लेकिन वापस तो लौटना ही होगा थोड़ी बहुत देर नशे में डूबकर फिर वहीं लौट आओगे जहां थे और भी ज्यादा चिंताओं में क्योंकि जितनी देर तुम बेहोश रहे चिंताएं बढ़ती रही चिंताएं तुम्हारी बेहोशी की फिक्र नहीं करती फिर रोज रोज ज्यादा शराब ज्यादा मादक द्रव्य लेने होंगे क्योंकि तुम उनके अभ्यस्त होने लगोगे लोग इतने अभ्यस्त हो सकते हैं कि तुम्हें पता ही ना चले कि वे पिए हुए मेरे एक मित्र हैं पुराने पियक्कड़ हैं गहरे पियक्कड़ हैं उनकी शादी हुई पांच साल बाद उनकी पत्नी को पता चला कि वो शराब पीते क्योंकि एक दिन घर वो बिना पिए आ गए जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पता चला रोज पी के आते थे तो बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होते थे बिना पिए आए तो थोड़े डगमगाते थे थोड़े अस्त व्यस्त थे थोड़े बेचैन थे जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पत्नी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ मैं उनसे वर्षों से परिचित हूं कितना ही उन्हें पिला दो तुम ऊपर से जांच करके बता नहीं सकते कि वो पिए हुए अभ्यस्त हो गए शरीर ने इस नए रसायन को सीख लिया और फिर लाख भूल जाओ भूलने से चिंता मिटती नहीं चिंता तो अपनी जगह खड़ी है और चिंता मनुष्य की दुश्मन भी नहीं है उसकी मित्र है चिंता का कांटा ही तो उसे आगे बढ़ाता है वही तो उसकी चुनौती है सोम रस से लेकर ऋग्वेद के आलदुअस हक्सले के एलएसडी तक आदमी निरंतर इस बात की खोज की है कि मैं वापस कैसे लौट जाऊं कवियों के मन में बहुत आकर्षण होता है पक्षियों जैसे आकाश में उड़ने का मुक्त गगन फूलों जैसे सूरज में खिलने का वृक्षों की हरियाली नदियों का कलकल नाद सागर मोड़ते तूफान और आंधिया आकाश में गरजते बादल और कड़कती बिजलियां और कभी आतुर हो आता है लौट चले पीछे को यह आकस्मिक नहीं है कि कवि चित्रकार संगीतज्ञ आम तौर से मादक द्रव्यों में उत्सुक हो जाते इसके पीछे कारण है वो पीछे लौटना चाहते हैं और पीछे लौटने का एक ही उपाय है हम कैसे भूल जाएं उस जगह को जहां की हम मगर समय में पीछे लौटा ही नहीं जा सकता एक बाप अपने छोटे से बेटे को समझा रहा था नेपोलियन का प्रसिद्ध वचन कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं उसके बेटे ने कहा रुको एक मिनट रुको मैं भी आया मैं अभी सिद्ध करता हूं कि एक चीज निश्चित असंभव मैं बहुत दिन से करके देख रहा हूं संभव होती नहीं वो भागा गया स्नान ग्रह में और वहां से टूथपेस्ट की डब्बी ले आया टूथपेस्ट के ट्यूब को निकाल के उसने दो जोर से पिचका के टूथपेस्ट बाहर निकाल दिया और अपने बाप को कहा अब इसको फिर भीतर करके दिखा दू तो मैं मान लूंगा कि नेपोलियन ठीक कहता है कि जगत में कुछ भी असंभव नहीं मैं तो बहुत कोशिश करके हार चुका जो बाहर आ गया सो आ गया फिर भीतर नहीं जाता इस छोटे से बच्चे ने अपने ढंग से एक महत्वपूर्ण बात कह दी छोटे बच्चे कभी कभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह देते इसने ये कह दिया कि कुछ चीजें वापस नहीं लौटती और समय तो निश्चित ही वापस नहीं लौटता है कोई उपाय नहीं है समय की यात्रा में पीछे जाने का तो आदमी आगे ही जा सकता है पीछे नहीं पीछे जाने की चेष्टा में जितना समय गमाया व्यर्थ गमाया उतना समय अगर हम आगे के पड़ाव की तलाश करने में लगाएं तो चिंताओं के पार हो सकते चिंताओं का अतिक्रमण हो सकता है मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की क्षमता है आया है पशुओं के जगत से मगर लेकर आया है गीत बुद्धों का गाना है वही गीत तभी संताप मिटेगा तभी चिंता टूटेगी तभी ये बिखराव हटेगा हम इस दुनिया में जरूर हैं मगर हम इस दुनिया के नहीं हमें आगे जाना है हमें पार जाना है पार का बुलावा प्रतिपल आ रहा है दूर का किनारा पातियों पर पातियां भेज रहा है कब तक अनसुनी करोगे कब तक पीठ किए रहोगे बुल्ले साह उसी की याद दिला रहे हैं उस लोक की जो हमारा वास्तविक लोक है जहां पहुंचकर ही हम तृप्त हो सकते हैं हम जो हैं वही हो जाएं, जो हमारी नियति है जो हमारा अंतरतम स्वभाव है जो हमारी प्रकृति है वही पूरे रूप से खिल उठे तो जीवन में आनंद की वर्षा हो जाए नहीं तो फिर सब भ्रमजाल है फिर सपनों में अपने को भरमाए रहो बुलाए रहो नसों में अपने को डुबाए रहो मगर जीवन में कोई गति न होगी कोई विकास न होगा और एक दिन बहुत पछताओगे और अक्सर यू होता है फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत ए मेरे हम नसी ए मेरे हम नसीम चल कहीं और चल इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं चलना है कहीं और चलना है ए मेरे हम नसी चल कहीं और चल इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं बात होती गुलों तक तो सह लेते हम बात होती गुलों तक तो सह लेते हम अब तो कांटों पे भी अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं ए मेरे हम नसी दी सदा दौर पर और कभी तूर पर दी सदा दौर पर और कभी तूर पर किस जगह मैंने तुझको पुकारा नहीं भी सदा दौर पर और कभी तूर पर किस जगह मैंने तुझको पुकारा नहीं ठोकरे यूं खिलाने से क्या फायदा ठोकरे यूं खिलाने से क्या फायदा साफ कह दो साफ कह दो कि मिलना गवारा नहीं ए मेरे हम नसी गुल सिता को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं ए मेरे हमनसी जालिमो जालिमो अपनी किस्मत पर ना जाना हो दौर बदलेगा दौर बदलेगा ये वक्त की बात है वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं ए मेरे हम नसी आज आए हो तुम कल चले जाओगे आज आए हो तुम कल चले जाओगे ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं आज आए हो तुम कल चले जाओगे ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं उम्र भर का सहारा बनो तो बनो उम्र भर का सहारा बनो तो बनो दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं ए मेरे हमनसी अपनी जुल्फों को रुख से हटा लीजिए मेरा जौके नजर आजमा लीजिए आज घर से चला हूं यही सोचकर या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं ए मेरे हमनसी ए मेरे हम नसी चल कहीं और चल इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं बात होती गुलों तक तो सह लेते हम अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं जितने जल्दी यह बात समझ में आ जाए उतना शुभ है कि यहां कुछ भी हमारा नहीं यह पड़ाव है मंजिल नहीं रात भर विश्राम कर लो लेकिन सुबह चल पड़ना है खोजना है तलाशना है जीवन केवल उनका है जिनकी अंतरात्मा में अन्वेषण है अस्तित्व केवल उनका है जो सत्य की निरंतर शोध में लगे जिन्होंने एक क्षण को भी ये बात भुलाई नहीं कि हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है माना कि हमें पता नहीं कहां से हम आए और माना यह भी कि हमें पता नहीं कहां हमें जाना है लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि एक दिन था हम यहां नहीं थे और यह भी बात उतनी ही सुनिश्चित है एक दिन फिर होगा और हम यहाँ नहीं होंगे रोज तो तुम नए जन्मते बच्चों को देखते हो और रोज तो तुम बूढ़ों की अर्थियां उठते देखते हो कब तुम्हें समझ में आएगा कि जो जन्मा वह मरेगा जो बना वह मिटेगा ये बात दो घड़ी की है ये ताश के पत्तों का घर है अभी आया हवा का झोंका और अभी बिखर जाएगा ये नाव कागज की चल भी ना पाएगी और डूब जाएगी इसने कभी दूसरा किनारा पाया नहीं इसके पहले कि समय हाथ से व्यतीत हो जाए इसके पहले कि जीवन का परम अवसर यूं ही खो जाए कंकड़ पत्थर बीनने में जाग जाना जरूरी है बुलसाह की यह काफी उसी जगाने की तरफ सुंदर इशारा है तंग छिदर नहीं बिच तेरे जिथे कख न एक समावद आए तू इतना सूक्ष्म है ए प्यारे तू इतना सूक्ष्म है सूक्ष्माती सूक्ष्म कि तुझ में कोई छिद्र नहीं कोई करना भी चाहे छिद्र तो कर नहीं सकेगा मैंने सुना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई जिसमें अमेरिका के कारीगरों ने एक इतना बारीक तार बनाया कि जो खाली नंगी आंखों से देखा भी ना जा सके जिसके देखने के लिए भी यंत्रों की जरूरत पड़े जब तक खुर्दबीन से ना देखो दिखाई भी ना पड़े और फिर उस तार को दूर दूर देशों में भेजा कि है कोई कारीगर जो इसमें छेद कर दे अब जो आंख से दिखाई ही ना पड़े उसमें छेद कैसे हो सके और किस यंत्र से छेद हो सके यंत्र और भी सूक्ष्म होना चाहिए लेकिन कहते हैं जापान के कारीगरों ने उसमें छेद कर दिया चौके बहुत अमरीकी भरोसा ना हुआ मगर मानना ही पड़ा यंत्र साफ कह रहा था कि तार भी है और तार में छेद भी हो गया फिर यात्रा शुरू हुई अब वो चाहते थे कि कोई अगर और बड़ा कारीगर हो तो इस छिद्र के चारों तरफ एक वर्तुल बना दे तार दिखाई पड़ता नहीं छिद्र दिखाई पड़ता नहीं न दिखाई पड़ने वाले तार में न दिखाई पड़ने वाला छिद्र उसके चारों तरफ एक घेरा बनाना एक रेखा खींच देनी है एक वर्तुल बनाना और जर्मनी के कारीगरों ने वो भी कर दिया अब तो उन्होंने सोचा कि कहीं जाने से कोई प्रयोजन नहीं लेकिन किसी ने कहा कि भारत में भी कारीगर होते हैं बड़ा प्राचीन देश है शायद कोई कारीगर हो मौका एक देना चाहिए तो वो भारत भी आए और उल्लास नगर में सिंधी कारीगरों ने और तो कोई कारीगर इस देश में है ही नहीं सिंधी कारीगर उन्होंने एक चमत्कार और कर दिया उन्होंने न दिखाई पड़ने वाले तार में किए गए न दिखाई पड़ने वाले छेद न दिखाई पड़ने वाले छेद के चारों तरफ न दिखाई पड़ने वाले वर्तुल के चारों ओर अंग्रेजी में साफ साफ लिख दिया मेड इन यूएस अमरीकियों की आंखें तो फटी की फटी रह गई उन्होंने कहा ये तो चमत्कार है ही मगर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये यूएसए में बना उन्होंने कहा यूएसए को तुम्हारे बाप का है अरे यूएसए का अर्थ होता है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन किसी ने ठेका लिया यूएसए का मगर ये जो आदमी है इसमें सिंधी भी छेद न कर सकेंगे और सिंधी हार गए तो सब हार गए बुल्लसाह कहते हैं ठीक ही कहते हैं सिंधियों को भली भांति जानते रहे होंगे बुल्ले साहब हे प्यारे हे साई तू इतना तंग तू इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि तुझ में कोई छिद्र नहीं किया जा सकता तुझ में एक तिनका भी नहीं समा सकता है तुझ में कभी कोई प्रविष्ट न हुआ है न हो सकेगा लेकिन यूं अगर देखो तो सारी दुनिया तुम में प्रविष्ट हो गई है तुम्हारे भीतर बाजार भरे हुए तुम्हारे भीतर दुकानें खुली हुई मंदिर है मस्जिद है काबा है कैलाश है गिरनार है तुम्हारे भीतर क्या नहीं और यूं बुल्ले शाह कहते हैं कि एक तिन का भी ना समा सके तुम इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म हो फिर ये सारा संसार जो तुम्हारे भीतर बना हुआ है कितने विचार कि गिनने चलो तो गिनने ना पाओ और कितनी कल्पनाएं कि तोड़ना चाहो तो तोड़ ना सको और कितने सपने कतारों पर कतार कतार अंदर कतार उघाड़ते चलो और कभी उघाड़ ना पाओ कितनी स्मृतियां जैसे कोई प्याज के छिलकों को छीलता चले छीलता चले हर स्मृति के भीतर और स्मृति और प्यास तो एक दिन चुग भी जाए एक घड़ी ऐसी आए कि सारी परतें अलग हो जाएं और हाथ में खालीपन बचे लेकिन स्मृतियों को उघाड़ते चलो उघाड़ते चलो कभी खाली न कर पाओगे तुम्हारा स्वरूप इतना सूक्ष्म कि उसमें एक तिनका भी ना समा सके फिर ये सारी दुनिया कहां समा गई बुल्ले शाह कहते हैं ये दुनिया तुम्हें समाई नहीं सिर्फ तुम्हें ख्याल है सिर्फ तुम्हें ख्याल है एक फकीर हुआ नागार्जुन बौद्ध फकीर था इस पृथ्वी पर जो थोड़े से अनूठे लोग हुए उन थोड़े से लोगों में नागार्जुन भी एक है उसके पास एक आदमी ने आके कहा कि मुझसे संसार नहीं छूटता मैं क्या करूं नागार्जुन ने उसे गौर से देखा और कहा तूने भी गजब की बात कही मैं पकड़ना चाहता हूं और पकड़ नहीं पाता हूं और तू कहता है कि तू छोड़ना चाहता है और छूटता नहीं हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए तूने भी कैसा सवाल उठा दिया मैं लाख उपाय किया हूं पकड़ने का और पकड़ में नहीं आता और तू कहता है कि छूटता नहीं तो एक काम कर ये सामने मेरे गुफा है तो इसमें भीतर बैठ जा और तीन दिन तक तू एक ही बात की रट लगा बातचीत में नागार्जुन ने पता लगा लिया था कि वो काम क्या करता है अहीर था भैंसों का दूध बेचता था तो नागार्जुन ने पूछा था तुझे सबसे ज्यादा प्रेम किससे पत्नी से है बच्चे से उसने कहा मुझे किसी से नहीं मुझे अपनी भैंस से प्रेम है तो नागार्जुन ने कहा तू एक काम कर इस सामने की गुफा में अंदर चला जा भीतर बैठ जा तीन दिन तक खाना पीना बंद बस एक ही बात सोच कि मैं भैंस हूं मैं भैंस उसने कहा इससे क्या होगा तीन दिन के बाद तय करेंगे तीन दिन में तेरा कुछ बिगड़ा नहीं जा रहा है जिंदगी यूं ही चली गई तीन दिन और समझना मुझे दे दी सीधा साधा आदमी था चला गया गुफा में और सच में ही भैंस से उसे प्रेम था वही उसकी जिंदगी थी वही उसका संसार वही उसकी धन दौलत वही उसकी प्रतिष्ठा यूं भी भैंस से बिछड़ गया था तो बड़ी तकलीफ हो रही थी इस बात से बहुत राहत भी मिली कि मैं भैंस दोहराता रहा दोहराता रहा तीन दिन सतत दोहराया सीधा भोला भाला आदमी तीन दिन बाद नागार्जुन उसके द्वार पर गया और कहा कि बाहर आ उसने निकलने की कोशिश की लेकिन निकल ना सका नागार्जुन ने कहा क्या अर्चन है निकलता क्यों नहीं उसने कहा निकलू कैसे ये जो मेरे सींग गुफा का दरवाजा छोटा सींग अटक अटक जाते न कहीं कोई सींग थे न कुछ अटक रहा था लेकिन वो आदमी अटका हुआ था नागार्जुन भीतर गया उसे खूब हिलाया झकझोरा का आंख खोल तीन दिन तक निरंतर दोहराने से कि मैं भैंस हूं भ्रांति खड़ी हो गई गौर से देख ये आईना रहा इसमें अपनी तस्वीर देख कहा सींग उस आदमी ने आईना देखा न कोई सींग थे न कोई भैंस थी हंसने लगा नागार्जुन के चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि खत्म हुआ मैं सोचता था संसार छूटता नहीं आप ठीक कहते थे पकड़ना भी चाहो तो कैसे पकड़ोगे सींग है ही नहीं सिर्फ ख्याल है सिर्फ विचार है सिर्फ कामनाएं सिर्फ वासनाएं बुल्लेसार कहते हैं ढूंढ कर दे कि जहान की ठोर कहां है अनहोना नजर आ रहा है आदमी को सींग उग गए हैं भैंस के सींग अनहोना नजर आ रहा है ढूंढ वेख जहां दी ठोर किथे जरा गौर से तो देख इस सारे संसार का स्रोत कहां है ये है भी या नहीं इसकी जड़ें भी हैं कहीं या नहीं यह सिर्फ एक कल्पना का वृक्ष कल्प वृक्ष जो होता नहीं सिर्फ मान लिया जाता है और मान लो तो हो जाता है हम मान्यता से एक संसार खड़ा कर लेते ढूंढ वेख जहां दी ठौर थे अन हुंदड़ा नजरी आवदाए हुआ नहीं है और दिखाई पड़ रहा है ढूंढकर देख कि इस जहान का ठौर कहा अनहोना नजर आ रहा है ये वचन तो बड़ा प्यारा है अनहोना नजर आ रहा है जो नहीं होना था जो नहीं हुआ है जो नहीं हो सकता है वो लगता है कि हो गया है किन किन चीजों का मोह हमें पकड़ लेता है कैसे कैसे पागल मोह हमें पकड़ लेते हम ऐसी जंजीरों में बंधे हैं जो हैं ही नहीं लोहे की तो छोड़ी दो फूलों की जंजीरें भी नहीं जॉर्ज गुरजीएफ ने लिखा है कि वो बचपन में एक छोटे से खानाबदोषों के कबीलों में रहा उस खानाबदोष कबीले की औरतें एक तरकीब जानती थी क्योंकि खानाबदोष कबीले जैसे हमारे यहाँ बलूची आते थे पाकिस्तान बन गया तो बलूची आने बंद हो गए उनके आने से एक रौनक चली गई वो नहीं आते हैं तो कुछ कमी हो गई बलूची आवारागर्द थे घुमक्कड़ थे उनकी औरतें मजबूत थी घुमक्कड़ होना हो तो औरतों को मजबूत होना ही पड़े औरतें कमजोर हो गई घरवाली होकर घर में बंद हो गई कमजोर हो गई बलूची की औरत तुम्हारे दो चार मर्दों को पानी पिलाते बलूची औरत किसी का हाथ पकड़ ले तो छोड़ाना मुश्किल हो जाए मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे गांव में बलूची आते थे तो लोग डरते थे अच्छी अच्छी चीजें बेचने लाते थे लेकिन उनसे खरीदना मुश्किल था क्योंकि उनसे अगर खरीद फरोख्त की छोटे से चक्कू के दस रुपए बताएंगे अब कोई दस रुपये बचाएगा बताएगा दाम तो तुम बहुत भी हिम्मत करोगे तो कम से कम दो रुपये तो कहोगे वो बलूची स्त्री राजी हो जाएगी कि ठीक दो रुपये से ही हाथ पकड़ लेगी हाथ छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा भीड़ इकट्ठी कर लेगी दो रुपये निकलवा के रख लेगी चाकू मुश्किल से होगा आठ आने का चार आने का बलूची स्त्रियां मजबूत थी सभी खानाब दोष कबीलों की औरतें मजबूत होती होना ही पड़ेगा ऐसे हर कोई बलात्कार कर दे तो नहीं चलेगा रोज चलना है यात्रा करनी और दिन भर काम में लगे रहना है इस तरह नहीं चलेगा जैसा कि घूंघट मार के बैठ गए गुरजीएफ ने लिखा है मैं एक कबीले में रहा जो दोस्त खानाबदोष बड़ा प्यारा शब्द है खानाबदोष का अर्थ होता है जिसका मकान अपने कंधे पर खाना यानी मकान इसलिए कहते हैं शराब खाना मैं खाना दवा खाना खाना यानी मकान और बदोस दोष का अर्थ होता कंधा खाना बदोष का अर्थ होता है जिसका मकान अपने कंधे पर जो हमेशा चल रहा है जो चलता ही रहता है जो रुकता ही नहीं जो कहीं मजबूत मकान नहीं बनाता तंबू बांधता है अभी बांधा और सांझ उखड़ जाएगा सांझ बांधा और सुबह उखड़ जाएगा सच पूछो तो हम भी सब खाना अब दोष है संसार में सुबह बांधा तंबू सांझ उखड़ जाएगा गुरजीएफ ने कहा कि उस कबीले की औरतें एक तरकीब जानती थी जो मुझे बहुत हैरान करती थी वो तरकीब ये थी कि वो अपने बच्चों को दिन भर तो उन्हें काम करना है बाजार में सामान बेचना है तरह तरह के धंधे करने हैं वो अपने बच्चों को क्या करें अपने बच्चों को बिठा देती खड़िया मिट्टी से उन बच्चों के चारों तरफ एक सफेद लकीर खींच देती और बच्चों से कह देती कि इस लकीर के बाहर तुम निकल ना सकोगे लाख उपाय करोगे और निकल ना सकोगे बचपन से ही बच्चों को यह बात सिखाई जाती और बच्चों की तो बात और गुरजीएफ ने लिखा है कि खानाबदोश औरत अपने पति के चारों तरफ लकीर खेच देती और कह देती कि बस इसके बाहर नहीं निकल सकोगे गुरजीब तो बड़ा हैरान हुआ बच्चा समझ लो कि बच्चा है मान गया लेकिन जिसने 20-25 साल तक ये बात मानी हो उसके भीतर गहरी बैठ गई वो पति ही सही मगर भीतर तो वही बच्चा है और कहने वाली आज माना सही पत्नी है मगर है तो वही औरत है तो वही स्त्री वही बल वही धमकी बाहर निकल ना सकोगे बाहर निकले की मुसीबत में पड़ जाओगे बीमार पड़ जाओगे लंगड़े हो जाओगे अंधे हो जाओगे इस तरह की सारी धमकियां गुरजीएफ ने देखा कि जवान आदमी बूढ़े आदमी कि चारों तरफ लकीर खींच दें औरतें वो बाहर ना निकल सके निकलने की कोशिश करें तो यूं हो जैसे कि कोई अदृश्य दीवाल कांच की कोई पारदर्शी दीवार उन्हें रोक लेती बस वो लकीर तक आए हाथ से टटोले जैसे कोई चीज रोक रही और वापस लौट जाए गुरजीएफ ने कहा वहां मुझे पहली बार समझ में आया कि आत्म सम्मोहन क्या है और वहीं मैंने समझा कि ये संसार का उपद्रव क्या है हम सब आत्म सम्मोहित हैं जिस चीज को हमें धन बता दिया गया हमने धन मान लिया और जिस चीज को हमें पद बता दिया गया हमने पद मान लिया जिस चीज को हमसे कहा गया बहुमूल्य हमने बहुमूल्य मान लिया और कंकड़ पत्थरों के हीरों की तरह पूज रहे हैं दो कौड़ी की चीजों के पीछे जिंदगी भर दौड़ रहे पूछते हैं बुल्ले शायद ढूंढ वेख अरे जरा ढूंढ तो देख जहां दी ठौर कि थे ये तेरा सारा संसार इसका स्रोत कहा है इसका स्रोत आत्मसम्मोहन में अन्न नजरी आवदाए जो हुआ ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा है एक चमत्कार हो रहा है जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है कैद ओहाम से आजाद हुए फिक्रो नजर जल उठे तीराओ तारीख दिमागों में चिराग भ्रमों की कैद से विचार और दृष्टि मुक्त हो जाएं, तो अभी तुम्हारे भीतर का चिराग जल जाए कैद ओहाम से आजाद हुए फिक्रो नजर जल उठे तीराओ तारीख दिमागों में चिराग आखिर शाह आखिर शाह चांद तारों में भटकने वाले पा गए खाक के जर्रों में ही मंजिल का सुराग चांद तारों में खोजने मत जाओ कहीं दूर नहीं है सुराग राज की बात यही है तुम्हारे आसपास है दे ओहाम से आजाद हुए फिक्र नजर जरा अपने अंधविश्वासों को हटा के रख दो आंखों पर चढ़े हुए जालों को काट दो ये मकड़ी के जाल जो तुमने अपने चारों तरफ खुद ही बुन लिए इनको जिस दिन चाहो तोड़ दे सकते हो कैद ओहाम से आजाद हुए फिक्रो नजर जल उठे और तारीख दिमागों में चिराग बस फिर अंधेरे से भरे हुए अंतर कक्ष में चिराग जल उठते आखिर शाह चांद सितारों में भटकने वाले और दूर मत भटको कहीं चांद तारों पर रोशनी नहीं है रोशनी का राज तुम्हारे भीतर है आखिर शाह चांद सितारों में भटकने वाले पा गए खाक के जर्रों में ही मंजिल का सुराग यही अभी और यही मंजिल का रास्ता पाया जा सकता है और अगर यही नहीं पाया जा सकता तो फिर कहीं नहीं पाया जा सकता एक आदमी अपनी कार को रोका एक चौराहे पर झाड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े से पूछा जो कि तमाकू फांक रहा था कि बाबा स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता कौन बूढ़ा तो तमाकू मलता ही रहा और उसके ढंग से ऐसा लगा बा मुश्किल उसने आंखें खोली कि तमाकू ही नहीं कुछ और भी चढ़ाए बैठा अफीमची था पीनक में था उसने कहा स्टेशन स्टेशन यानी क्या कार का मालिक तो हैरान हुआ कि जिस आदमी को यही पता नहीं कि स्टेशन या नहीं क्या वो क्या कहा रास्ता बताएगा मगर कोई और दूसरा नजर भी ना आता था तो समझाना पड़ा कि स्टेशन वहां जहां रेलगाड़ी में लोग बैठते हैं उसने कहा हाँ ठीक यहां से बाएं जाओ मील भर के बाद दाएं मुड़ जाना नहीं नहीं इस रास्ते से नहीं पहुंच सकता तो उस आदमी ने पूछा कि फिर वही रास्ता बताओ ना जिससे पहुंच सकते तो उसने कहा यहां से दाएं तरफ जाओ एक फरलांग के बाद फिर एक चौराहा पड़ेगा उसमें फिर दाएं तरफ मुड़ जाना फिर एक चौराहा पड़ेगा नहीं नहीं इससे भी नहीं जा सकते ये तीसरा रास्ता चुनो और बात फिर वही आई कि नहीं नहीं इससे भी नहीं जा सकते चौथा रास्ता और भी लंबा था काफी मोड़ आए और काफी मुड़ना पड़ा और अखीर में उसने कहा कि नहीं नहीं और चार ही रास्ते थे आखिर घबरा गया वो गाड़ी का मालिक उसने कहा तो इसका क्या मतलब स्टेशन पहुंच ही नहीं सकते उसने कहा अगर तुम तो मुझसे पूछो तो यहां से तो स्टेशन जाने का कोई उपाय ही नहीं नहीं तो मैं खुद ही चला गया ना होता चार ही रास्ते हैं और किसी से भी जाने का कोई उपाय नहीं अगर यहां से वहां जाने का कोई उपाय नहीं तो फिर कहां से जाओगे उपाय तो यहीं से होना चाहिए यहीं से है पा गए खाक के जर्रों में ही मंजिल का सुराग सवाद मर्ग में आखिर हयात ढूंढ ही ली ये मृत्यु की नगरी है सवाद मर्ग सवाद मर्ग में आखिर हयात ढूंढी ली गुनाहगारों ने राह नजात ढूंढी ली ये जीवन क्या है एक मुर्दों की नगरी इसको बस्ती ना कहो इसे मरघट कहो कोई आज मरा कोई कल मरा कोई परसों मरा कोई पहले मर चुका कोई पीछे मर चुका कतार लगी मरने वालों की जिसका नंबर आया चला मुसाफिर खाना है लेकिन इसी मुर्दों की नगरी में भी खोजने वालों ने चाहे वे कितने ही गुनहगार क्यों न रहे हों अगर खोजने वाले थे तो उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि पंडित भला चूक जाएं चूकते हैं क्योंकि पंडितों को यह भ्रम होता है कि हम तो जानते ही हैं इसलिए खोजे ही क्यों पापी अक्सर पहुंच जाते हैं पंडित अक्सर चूक जाते हैं क्योंकि पापी को तो ये पीड़ा होती कि कैसे पाऊं कैसे खोजूं क्या करूं क्या ना करूं कब तक इस दुख में रहूं कब तक इस दीनता में जीऊं कब तक ये गुलामी और कब तक ये अंधेरा और समाधि मर्ग में आखिर हयात ढूंढी ली गुनहगारों ने राह नजात ढूंढी ली यूं तो ये मुर्दों की बस्ती है लेकिन यहां भी जिंदगी को खोजने वाले लोग हो गए मुर्दों की इस बस्ती में भी जिंदगी खोज ली कब्रों में भी जिन्होंने खिलाने थे उन्होंने गुलाब के फूल खिला लिए और पापियों ने भी मुक्ति का मार्ग खोज लिया है आखिर जिसने भी मुक्ति पाई वो कभी ना कभी पापी तो था ही बुद्ध बुद्ध नहीं हुए थे तब तक तो पापी थे और महावीर जब तक महावीर ना हुए थे तब तक तो पापी थे पाप तो यूं हैं जैसे रात और बुद्धत्व तो यूं हैं जैसे सुबह हर रात की सुबह है और हर सुबह के पीछे रात है इसलिए अपने पाप के बोझ से दब मत जाना इस दुनिया में अगर कोई चीज है जो रुकावट बन सकती तो वो पांडित्य थोथा पांडित्य लेकिन पाप नहीं पाप में क्या है तुम पाप भी क्या करोगे तुम्हारी औकात और हैसियत कितनी आदमी कर करके भी क्या पाप करेगा इस चार दिन की जिंदगी में ये छोटे से चार लम्हे क्या गुनाह कर लोगे और अगर गुनाह करोगे भी तो उसका बुनियादी कारण सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें अपना पता नहीं इसलिए यहां वहां भटक जाते हो तुम कसूरवार नहीं हो एक आदमी ने अकबर की सवारी निकलती थी अपने छप्पर पे चढ़ के अकबर को खूब गालियां दी कम वक्त से लेके हराम जादे तक जो भी कह सकता था कहा बीच में और बातें भी कहीं जो नहीं कही जा सकती सम्राट अकबर की सवारी हाथी पर शोभा यात्रा और याद आदमी अपने छप्पड़ पिछड़ चढ़ के गालियां बकने लगा तत्ण पकड़ लिया गया दूसरे दिन अदालत में मौजूद किया गया वो एकदम अकबर के पैरों पर गिर पड़ा था उसने कहा मुझे माफ कर दे अकबर ने कहा कि ये मामला आसान नहीं तुम्हारा अपराध संगीन है उस आदमी ने कहा मेरा अपराध क्या बातें करते हैं आप क्या अपराध अकबर ने कहा तुमने गालियां बकी बेहूदी गालियां बकी हजारों लोगों के सामने बकी वो आदमी कहने लगा थोड़ा सोच मैं शराब पिए हुए था मैं होश में न था अब बेहोश आदमी ने जो काम किया है क्या होश में आए आदमी को उसकी सजा मिलेगी गालियां दी होंगी शराब ने मैं क्यों देने चला मैंने नहीं दी अकबर ने सोचा और बात मान ली अकबर ने कहा यह बात तो ठीक है तू तो दूसरा ही आदमी मालूम होता है इतना विनम्र इतना सदा से इतना भोला भाला वो गालियां जरूर शराब ने दी थी मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने अगर अपनी मूर्छा में कुछ गुनाह किए हैं तो तुमने थोड़ी किए मूर्छा ने किए और जिस दिन जाग जाओगे गुनाह समाप्त हो जाएंगे तुमने न कभी किए थे और अचानक तुम पाओगे कि तुम अब करना भी चाहो तो नहीं कर सकते हो सिर्फ जाग जाने की बात है आगे आलम पे हुए बागे आलम पे हुए कितने खिजा के मलगार जिंदगानी पे कई मौत ने छापे मारे कभी यूना से कभी रोम से तूफान उठे वादी नील से उबला कभी खूनी सैलाब आग भड़की कभी आतिश कदाए फारिश से जिंदगी सोलों में जिंदगी शोलों में तब तक निखरती ही गई जितनी ताराज हुई और समरती ही गई घबराओ ना ये तो इस जीवन के निखारने का उपाय है जिंदगी शोलों में तप तप के निखरती ही गई जितनी ताराज हुई और समरती ही गई भूल चूकों से मत डरना भूल चूकों से ही आदमी सीखता है पापों से मत घबराना क्योंकि पापों से ही प्रार्थनाएं उठती अगर डरना किसी चीज से तो थोथे पांडित से डरना क्योंकि थोथा पांडित अहंकार उठाता है और अहंकार ही दीवाल बन जाती अहंकार से बड़ा आंख पर कोई पर्दा नहीं गुनहगार पहुंच जाएंगे मगर तुम्हारे पंडित और पुरोहित नहीं पहुंच सकते करना कुल इतना है कि अंधविश्वासों से जो दूसरों ने तुम्हें दे दिए सब उधार और बासे उनसे अपनी आंखों को रिक्त कर लेना खाली कर लेना है ढूंढ वेग जहां दी ठौर किथे अनहुंदड़ा नजरी आवदाए जरा ढूंढ के तो देख कि जहान का ठौर कहां है अनहोना नजर आ रहा है जो कभी हुआ ही नहीं वो होता नजर आ रहा है जो होना नहीं चाहिए था होता नजर आ रहा है जो हो ही नहीं सकता होता नजर आ रहा है ये वचन बड़ा प्यारा है अनहुंदड़ा नजरी आमदाए जिवे ख्वाब द ख्याल होवे सुती अनु जैसे सोते समय सपने होते तरह तरह के रूप दिखावदाए और कितने तरह के रूप दिखाई नहीं पड़ते चीन का एक सम्राट उसका इकलौता बेटा बड़ा दुखी था क्योंकि बेटा मर रहा था और चिकित्सकों ने कह दिया था बचने का कोई उपाय नहीं आज की रात आखिरी रात सुबह नहीं होगी बूढ़ा बाप उस रात सो न सका अपने बेटे के पास ही बैठ के रात भर उसे देखता रहा फिर तो ये चेहरा देखने को मिलेगा भी नहीं लड़का बेहोश पड़ा है सुंदर प्यारा राजकुमार फूलों पे पाला था उसे सब तरह से संभाला था उसे सम्राट की तो जैसे आंखों की रोशनी जा रही बेटा नहीं मर रहा सम्राट ही मर रहा रात भर बैठा रहा लेकिन सुबह चार बजे होते होते बूढ़ा आदमी आंखों से आंसू झरते रहे रोते रोते थक भी गया झपकी खा गया झपकी में उसने एक सपना देखा सपना देखा कि उसके बारह राजकुमार एक से एक सुंदर एक से एक बुद्धिमान एक से एक बलशाली और उसके बहुत से स्वर्ण महल और उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसे खुद भी अपनी सीमाओं का कुछ पता नहीं यात्रा इतनी लंबी है कि कौन उन सीमाओं तक जाए और तभी उसकी पत्नी छाती पीट कर रोई क्योंकि लड़के ने सांस तोड़ दी सम्राट ने आंख खोली भौचक्का सा बैठा रहा फिर हंसने लगा पत्नी समझी कि पागल हो गया बेटा मरे और कोई हंसे इकलौता बेटा मरे और कोई हंसे जिस पे सारी नजरें थी जिंदगी भर से क्योंकि वही तो मालिक होने वाला था साम्राज्य का बाप तो बूढ़ा हो गया अब मरा तब मरा बेटे पर ही सारी आकांक्षाएं टिकी थी उसकी मृत्यु पर बाप हंसे पत्नी ने कहा तुम्हें क्या हो गया हिलाया डुलाया होश में हो कि पागल हो गए हो सम्राट ने कहा नहीं पागल नहीं हुआ अब मैं ये सोच रहा हूं कि अभी अभी मैं जो सपना देख रहा था बारह सुंदर राजकुमार थे मेरे न मालूम कितने सोने के महल थे उन महलों की सीढ़ियों पर हीरे जवाहरात जड़े थे उन महलों में अंबार लगे थे धन के मेरा राज इतना बड़ा था कि उसकी सीमाओं का मुझे भी कोई पता नहीं था और आंख खुली सारा राज्य खो गया बारह ही राजकुमार मर गए सोने के महल कहा खो गए पता नहीं वो बड़ा विराट साम्राज्य यूं पलक मारते विदा हो गया मैं किसके लिए रोऊं उन बारह राजकुमारों के लिए रोऊं या इस एक राजकुमार के लिए रहू क्योंकि जब मेरी आंख बंद थी ये मुझे भूल गया था और अब जब मेरी आंख खुल गई है तो वो मुझे भूल गए कौन सच किसके लिए रो इसलिए हंस रहा हूं कि वो एक आंख बंद किए हुए का सपना था ये आंख खुले हुए का सपना है लेकिन दोनों सपने सत्य यहां कुछ भी नहीं जिस प्रकार सोए हुओं को ख्वाब के ख्याल होते हैं ऐसे ही तरह तरह के रूप दिख रहे तुमने अपने सपने संजो रखे तुम अपने सपनों को ही देख रहे हो ये तुम्हारे प्रक्षेपण है भूले तो जैसे रक्त कोई दरमिया ना था इतने बदल भी सकते हो तुम इतने बदल भी सकते हो तुम ये गुमाना था भूले तो जैसे रक्त कोई दरमिया ना था इतने बदल भी सकते हो तुम ये गुमाना था इस अंजुमन से उठ के भी हम इस अंजुमन से उठ के भी हम अंजुमन में थे खलवत वो कौन सी थी खलवत वो कौन सी थी तमाशा जहां न था तुम क्या बदल गए तुम क्या बदल गए कि जमाना बदल गया तुम क्या बदल गए कि जमाना बदल गया तुम सर गिरा न थे तुम सर गिरा न थे तो कोई सर गिरा न था हम और शिकवा संजिए अहल जफा की दिल कम वक्त बेमजा था अगर खूं चका न था ताबा खुलूस अहले हरम में भी था मगर काबा खुलूस अहले हरम में भी था मगर उस अंजुमन में अपना कोई राजदा न था ये भरा पूरा संसार है लेकिन यहां राजदा को पाना भी बहुत मुश्किल है कोई जो तुम्हारे जिंदगी के राज को समझ सके जिसके पास बैठ के तुम जिंदगी के राज की दो बातें कर सको जहां ऐसा राजदा मिल जाए समझना कि वहीं सदगुरु मिला वहीं सत्संग मिला जिसके पास बैठ के सत्य की कुछ बात हो सके नहीं तो सब झूठ का फैलाव है तुम्हारी शिक्षा तुम्हें झूठ सिखा रही क्योंकि तुम्हारी शिक्षा तुम्हें सिर्फ एक रोग देती महत्वाकांक्षा का रोग और महत्वाकांक्षा जड़ है इस संसार की इस सारे तमाशे का आधार है वही ताबीज जिससे ये सारा उपद्रव चलता है महत्वाकांक्षा का अर्थ है आगे होना लेकिन क्यों किस लिए सबसे आगे होना है लेकिन क्यों क्या प्रयोजन इस चार दिन की जिंदगी को आगे होने में ही बिता देना है और आगे कौन कब हो पाता है करीब करीब लोग वर्तुल में खड़े जहां भी रहोगे किसी को आगे पाओगे नेपोलियन के पास सब कुछ था लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी और जब भी वो लंबे आदमी को देखता उसके प्राणों में जैसे बिजली बिजली कौन जाए जैसे कोई छुरी भोंकते नेपोलियन के पास सब था बड़ा साम्राज्य था लेकिन वो शरीर की ऊंचाई उसके खुद के सिपाहियों से भी कम थी उससे उसे बड़ी अड़चन होती थी वो अड़चन उससे जिंदगी बढ़ रही मिटी ही नहीं लेलिन ने रूस के विराट साम्राज्य पर कब्जा कर लिया लेकिन उसके पैर छोटे थे ऊपर का हिस्सा शरीर का बड़ा था वो अपने पैरों को छिपाए रखता था वो कुर्सियां बड़ी बनवाता था इतनी बड़ी कि लोगों को ये ख्याल रहे कि उसके पैर छोटे नहीं कुर्सियां इतनी बड़ी होती थी उसके पैर जमीन तक पहुंचते ही नहीं थे और लोगों को पता था वो अपनी टेबलों पर इतने बड़े कपड़े लटकाता था कि किसी को उसके लटकते हुए पैर दिखाई ना पड़ जाए वो जहां भी जाता उसे एक ही बेचैनी बनी रहती तो उसके पैर छोटे क्या करोगे कुछ ना कुछ कमी रहेगी कोई ना कोई आगे रहेगा किसी के पास धन होगा तो पद ना होगा और किसी के पास पद होगा तो धन ना होगा और किसी के पास पद होगा धन होगा सौंदर्य ना होगा और किसी के पास पद भी हो धन भी हो सौंदर्य भी हो बुद्धिमत्ता ना हो और कृषि के पास बुद्धिमत्ता हो लेकिन सौंदर्य ना हो हमें अष्टावक्र की कथा तो मालूम ही कौन इससे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कभी हुआ होगा लेकिन शरीर आठ जगह से ईर्षा तिरछा था इसलिए नाम अष्टावक्र आठ जगह से ईर्षा तिरछा शरीर जरा सोचो आदमी नहीं जैसे ऊंट हुआ अष्टावक्र के पिता गए थे जनक के दरबार में देर हो गई थी आने में तो अष्टावक्र को उसकी मां ने कहा कि जा अपने पिता को भोजन के लिए बुला ला भोजन ठंडा हुआ जा रहा अष्टावक्र दरबार में पहुंचा वहां सारे लोग देख के उसे हंसने लगे क्योंकि वो एक तरफ पैर रखे दूसरी तरफ दूसरा पैर पड़े एक तरफ देखे दूसरी तरफ दिखाई पड़े एक हाथ इधर जाए दूसरा हाथ उधर जाए ऐसा आदमी ही लोगों ने नहीं देखा था वो सब हंसने लगे उनको हंसता देख के अष्टावक्र और जोर से खिलखिलाया जनक चकित हुए हैं जनक ने कहा कि वो क्यों हंस रहे हैं वो मुझे मालूम लेकिन तू क्यों हंसता है उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि मैंने सोचा था कि जनक के दरबार में तो कुछ समझदार ला होंगे लेकिन यहां सब चमार इकट्ठे इनको सिर्फ चमड़ी का ही पता है हड्डियों का ही हिसाब लगा रहे हैं ये चमार है इन चमारों को यहां किस लिए घुसने दिया अरे ब्राह्मणों को निमंत्रित करो जो ब्रह्म को जानते हो और ब्रह्म कहीं तिरछा ईर्षा होता है ये तो मेरा शरीर है जो तिरछा रिछा है इससे क्या फर्क पड़ता है और ये दरबारी तुम्हारे जिनको तुम कहते हो तुम्हारे रत्न है इनको भी शरीर ही दिखाई पड़ता है अष्टवक्र बुद्धिमान तो था बड़ा अष्टवक्र गीता का कोई मुकाबला नहीं कृष्ण की गीता भी फीकी पड़ जाती मैंने तो अष्टवक्र की गीता को महागीता कहा है हजार गीताएं उससे निकल सकती उसका एक एक सूत्र इतना बहुमूल्य लेकिन बेचारा था तो कुरूप महत्वाकांक्षा तो तुम्हें इस तरह के उपद्रव सिखा देती कि तुम्हें आगे होना सब चीजों में तुम आगे हो ना सकोगे एक में भी हो जाओ ये भी आसान नहीं सब में होना तो असंभव है लेकिन शिक्षा यही जहर तुम्हारे भीतर डालती माँ बाप भी तुम्हें इसी दौड़ में लगाए रखते हैं कुल की राज लाज रखना रघुकुल रीत सदा चल आई अपने वंशजों का अपने पूर्वजों का सिलसिला जारी रखना हम प्रतिष्ठित हैं प्रतिष्ठा को बचाना अहंकार सिखाया जा रहा है और अहंकार के बीच से ही संसार पैदा होता है फिर न मालूम कितने सपने धन के पद के प्रतिष्ठा के और इन्हीं सपनों में हम सब कुछ गमा बैठते हैं बुल्ले शाह कहते हैं तुझसे कुछ भी बाहर नहीं है किंतु तेरा भरम ही तुझे भरमा रहा है कुछ भी बाहर नहीं है तेरा भरम ही तुझे भरमा रहा है सब तेरे भीतर है बाहर खोज ही मत भीतर जा आंख बंद कर अपने में देख वो ख्वाब हूं वो ख्वाब हूं जिसे ताबीर ख्वाब भी समझो मुझे सवाल भी जानो जवाब भी समझो मैं जी रहा हूं किसी मौज तहनसी की तरह मेरे सुकून को तुम इस तिराब भी समझो गए में गमे हयात की यूं तो हजार तावीलें किसी का लुत्फ भी जानो इताब भी समझो मेरे खुलूस को मेरी शिकस्त भी जानो मेरी वफा को मेरा हितसाब भी समझो तरफ का दौर भी कुछ बाबकार हो जाए छलकते जाम को चश्मे पुर आप भी समझो मुसाफिरों से भी नाजुक हैं रास्तों के मिजाज वो पेचो खम ही सही पेचो ताप भी समझो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मुझे खुद भी पता नहीं ताबा मैं कौन हूं मुझे खुद भी पता नहीं ताबा मेरे वजूद को मेरा निकाब भी समझो मैं कौन हूं मुझे खुद भी पता नहीं ताबा मेरे वजूद को मेरा निकाब भी समझो मेरा अस्तित्व ही मुझे छुपाए वही मेरा नकाब है वही मेरा घूंघट है घूंघट के भीतर जाओ मीरा कहती घूंघट के पट खोल बाहर बाहर मत भटको अगर कुछ पाना है तो भीतर आओ और भीतर तुम वह पालोगे जिससे पाके सब पा लिया जाता है दूसरा प्रश्न भगवान कैसे रहूं चुप कि मैंने पी ही क्या है होश अभी तक है बाकी और जरासी दे दे साकी और जरासी और कृष्ण तीर्थ भारती और की दौड़ का नाम ही संसार है और जरासी और इस छोटे से सूत्र में सारा संसार संसार का सारा गणित आ जाता है धन हो तो थोड़ा और पद हो तो थोड़ा और ज्ञान हो तो थोड़ा और त्याग हो तो थोड़ा और तपश्चर्या हो तो थोड़ी और ध्यान हो तो थोड़ा और और वही विषय बदलते लेकिन और तो वही अब तुम कहते हो कैसे रहूं चुप कि मैंने पी ही क्या है होश अभी तक है बाकी और जरासी दे दे साकी और जरासी और ये और की दौड़ तो कभी खत्म होगी नहीं होती ही नहीं जितना मिलेगा उतना ही और की मांग बढ़ती चली जाएगी अमेरिका का अरबपति एंड्रू कार्नेगी मरा दस अरब रुपए छोड़कर मरा पैदा तो गरीब हुआ था खुद अपनी ही मेहनत से दस अरब रुपए कमाए शायद ही किसी आदमी ने अपनी ही मेहनत से इतने रुपए कमाए लेकिन मरते वक्त उदास था उसकी जीवन कथा के लेखक ने उससे दो दिन पहले पूछा मरने के दो दिन पहले क्या आप उदास क्यों हैं आपको तो आनंदित मरना चाहिए आप एक सफलतम व्यक्ति हैं मनुष्य जाति के इतिहास में इतने सफल लोग कम ही हुए दस अरब रुपए आप अकेले अपने हाथों से कमा के जा रहे हैं एंड्रू कार्नेगी ने आंखें खोली और क्रोध से अपने कथा लेखक को देखा और कहा बकवास बंद कर मैं सौ अरब रुपए कमा के मरना चाहता था सिर्फ दस अरब मुझ जैसा पराजित हारा हुआ आदमी और कौन होगा बुरी मात खाई लेकिन क्या तुम सोचते हो एंडू कार्नेगी सौ अरब रुपए कमा लेता तो प्रसन्न मरता नहीं तब तक और की मांग और आगे बढ़ जाती ये और तो यूं समझो जैसा जमीन को छूता हुआ छितिज तुम जितने आगे बढ़ते हो छितिज भी आगे बढ़ जाता है ये और तो एक मृग मरीचिका है कृष्ण तीर्थ इस और को छोड़ दो और तृप्ति अभी और यही प्यास तो बुझे अभी और यही लेकिन इस और को छोड़ दो खलिश भी आज तो कुछ कम है खलिश भी आज तो कुछ कम है दर्द भी कम है चिराग तेज करो चिराग तेज करो हाय रोशनी कम है उदास उदास है महफिल उदास उदास है महफिल तही है पैमाने उदास उदास है महफिल तही है पैमाने शराब कम है अजीजो शराब कम है अजीजो की तशनगी कम है क्या कम है शराब कम है या प्यास कम है इसे ठीक से पूछ लेना चाहिए क्योंकि शराब बाहर है प्यास भीतर है जो सोचेगा शराब कम है वो भटकेगा संसार में और जो सोचेगा प्यास कम है उसकी बाहर की दौड़ बंद हुई अब वो भीतर डूबेगा वो अपनी ही प्यास में डुबकी मारेगा और मैं तुमसे एक उलट बांसी कहूं शराब पी के किसी की प्यास नहीं बुझी लेकिन जिसने अपनी प्यास में डुबकी मारी उसकी प्यास सदा को बुझ गई खलिश भी आस तो कुछ कम है दर्द भी कम है चिराग तेज करो हाय रोशनी कम है उदास उदास है महफिल तही है पैमाने शराब कम है अजीजो की तस्नगी कम है हमारे साथ चलें आज कुए कातिल तक वो वुल हवस जो समझते हैं जिंदगी कम अभी तो दोष तक आई है जुल्फ आवारा अभी जहाने तमन्ना में बरहमी कम है चिरागे गुल न जले कोई आशिया ही जले जुनून की राह गुजारों में रोशनी कम है बस और क्या कहें अहबाब तंज फरमा को शूर कम है नजर कम है आग ही कम है रहे हैं महव सनम को खुदा बनाए हुए सुना है इन दिनों ताबा को गुम रही कम शराब तो कितनी ही पियो बात बनेगी नहीं सागर भी मिल जाए शराब के तो भी बात बनेगी नहीं सागर भी छोटे पड़ जाएंगे लेकिन अगर तुम अपने भीतर की प्यास में डुबकी मार लो और उसी को मैं ध्यान कहता हूं तुम अगर उसकी खोज में निकल जाओ जो खोजने वाला है तुम अगर उसको पकड़ लो जो सारी चीजों को पकड़ने निकलता है तुम मंजिल की फिक्र छोड़ दो और यात्री के अंतरतम में बैठ जाओ गंतव्य नहीं ये गंता कौन है मंजिल नहीं राह नहीं ये राही कौन है मैं कौन हूं तो जरूर तृप्ति का आकाश अभी टूट पड़े लेकिन हम असली सवाल नहीं पूछते हम नकली सवाल पूछते फिर नकली सवालों के नकली जवाब है नकली सवालों के असली जवाब नहीं हो सकते और फिर नकली जवाबों को तुम इकट्ठे करते रहते हो उससे पांडित्य बन जाता है उससे होशियारी और चालाकियां पैदा हो जाती लेकिन तुम्हारी जिंदगी जैसी थी अंधी अंधेरी बस वैसी की वैसी सुबह नहीं होती सूरज नहीं निकलता सूरज तो दूर चांद तारों का भी कोई पता नहीं चलता चांद तारे भी बहुत दूर जुगनू भी नहीं चमकते अश्क वही अश्क वही जो तारा बनकर पलकों पर थर्राता है दर्द वही दर्द वही जो मीठे मीठे गीतों में ढल जाता है रंग हया में डूबे आरिज पर यूं जुल्फे बिखरी हैं शाम की गहरी छाव में जैसे कोई कमल जल जाता है कितनी मुद्दत गुजरी उनसे रक्त तमन्ना टूट चुका सामने अब भी आ जाते हैं जब धक से जी हो जाता है मैं तो एक आवारा शायर मैं तो एक आवारा शायर और खिरस से बेगाना कोई अहले हो सो खिरत फिर मेरे मुंह क्यों आता है खूने अंजुम में खूने अंजुम में जब शामिल खून तमन्ना होता है सुबह का रंगी दामन जैसे रंगी तर हो जाता है खूने अंजुम में जब शामिल खून तमन्ना होता है सुबह का रंगी दामन जैसे रंगी तर हो जाता है एक वो लम्हा एक वो लम्हा जिसने ताबा जीस्त का धारा मोड़ दिया मीठे मीठे सपने बनकर नजरों में लहराता है कौन सी चीज है जो जीवन की धार को मोड़ देती एक वो लम्हा जिसने ताबा जीस्त का धारा मोड़ दिया वो क्षण कौन सा है जब जीवन की सरिता एक नया मोड़ लेती अतृप्ति से तृप्ति की ओर दुख से आनंद की ओर नरक से स्वर्ग की ओर वो लम्हा वही लम्हा है वो क्षण वही क्षण है जब तुम बाहर की तरफ देखना बंद करके भीतर की तरफ देखना शुरू करते हो सत्य तो तुम्हारे भीतर है और उसको ही पियोगे तो तृप्ति है बाहर तो सब झूठ है बाहर तो सब दौड़ है आपाधापी है चिंता विषाद है लेकिन आनंद वहां नहीं तो मैं तुमसे कृष्ण तीर्थ भारती यही कहूंगा अपने में चलो वही तुम पाओगे सोना बाहर तो मिट्टी के ढेर लगा लोगे वही तुम पाओगे में ज्योति बाहर अगर इकट्ठी भी किए तो बुझे हुए मिट्टी के दिए ही इकट्ठे कर पाओगे वही शास्त्रों में मिलेंगे मिट्टी के दिए जिनकी रोशनी न मालूम कब की बुझ गई लेकिन अगर तुम्हें उस रोशनी को पाना है जो जलती है भीतर बिन बाती बिन तेल तो फिर मांगो मत मांग छोड़ो कामना ना करो वासना ना करो मत कहो और और कहो बस ठहरो विराम में आओ पूर्ण विराम लगा दो दौड़ पर आंख बंद भीतर करो भीतर डूबो और तुम पालोगे सब राजों का राज कंचन कंचन ही सदा कांच कांच सो कांच दरिया झूठ सो झूठ है सांच सांच सो सांच आज